समस्त कामनाओं का त्याग यदि कोई कामनाओं का त्याग कर दे विषयों की आसक्तियों को छोड़ दे व्यक्त होगा माने तो फिर भगवान कहते थे उसके लिए फिर परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा का आनंद परमात्मा का आनंद प्राप्त होने में देर नहीं ये बार बार बात आती है इसके बारे में जो ये है वैराग्य की जो महिमा वो आगे देखो लेकिन ये नहीं कह सकते आगे के युद्ध से जो हम देखते हैं उससे ये पता चलता है ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वैराग मात्र जो है हमारी अविद्या को नाश कर देगा और परमात्मा की प्राप्ति करा देगा नहीं लेकिन बिना वैराग्य के भी काम नहीं करेगा इसलिए नियम क्या बनता है दर सहस्र सुनो पुरारी कोई को हो धर्म व्रतधारी और धर्मशील कोटिक माँ ये विषय विमुख विराग्रह साधा इस प्रकार की करेगी धर्म को छोड़ करके पहले धर्म हो तब धर्मशील कोटिक मन धर्म के मार्ग चलने वाले व्यक्तियों में से भी साधना करते रहे करते रहेंगे इस पर निष्ठा भाव से धर्म का पालन करते रहेंगे तो कोई एकांत वैराग्य को प्राप्त करेगा लेकिन ये नहीं है कि वैराग्य प्राप्त हो गए तो परमात्मा की प्रार्थना कोट विरक्त मध्य सुख कही सम्यक ज्ञान सत्र को बुलाई करोड़ों विरक्तों में से कोई एक आध व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होता है नहीं विरक्तों को भी न जो साधारण रूप से हम ज्ञान ज्ञान करके मानते रहते हैं उसके माने बिना वैराग्य के जो ज्ञान आ जाता है वो केवल सात्विक साधन चीज की लपाटी मात्र है बुद्धि की प्रकल्पना मन की इत्यादि है अपने शास्त्र कार्य ऋषि मुनि से किसी को अनुत्साहित नहीं करते हतोत्साहित नहीं करते इसलिए नहीं मानने की तभी भी ज्ञान है लेकिन दरअसल वो ज्ञान है नहीं ज्ञान तब है जब अहंकार नष्ट हो जाए वास्तव से पार पार करके आत्मा की तरह पहुंचे और वहां टिकने की सामर्थ्य आवे वहां ज्ञान है नहीं तो क्या ज्ञान आत्मभाव निश्चित नहीं रह सकते आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या ज्ञान है इसलिए वैराग्य के बाद ही ज्ञान की महिमा है तो देखते हैं कि पहले वैराग्य की कथनी कहाँ तक है वो क्या करता है ये आगे चलता है लक्ष्मण जी का जो युद्ध है वो मानव वैराग्य का और अविद्या का मोह का युद्ध है रेखल का मोहि विलोक तोर मैं कालो खोज करो तो सुत घाती आज ने जुड़ा कई शान से बाण प्रसन्ना मन किए सकल सब गन्ना कोटे ने आयुध रावण तारे तिलकवान करे काट निवारे पुनन जबान नगीन सहारा अनंत शक्ति अनंत उड़लागी सही पयोवीर विकल उठावत समुख अतुल बल महिमा ब्रह्मांड भवन विराज जाके सिरज मिरज कहीं उठावन श्री प्रभु अनदानी देखी पवन सुतदायो बोलत वचन कठोर आवत कपी अन्योटी मुक्त प्रहार प्रभोर श्याव रामचंद्र की जय पवन सुत सब संकन के भगवान ने बनावा के क्या उत्तर देता है कहता है कि खोजत रहे तो सतगाती ले मेरे पुत्र को मारने वाले तुमको तो हम खोज ही रहे थे मन उसका कहने का ये कि हम पात्र भागों के इसलिए मार रहे थे जिससे तुम कहा छुपे हो निकल करके सामने तो आओ हम तो उनको थोड़े पात्रों से भागों से लड़ना आपको तो पूछ लड़ना था और कहते हैं कि आज मेरे पास छात्र आप तुमको ठंडा करें मार देंगे और हमारी छाती ठंडी हो जाए माने कि पुत्र के मारने से इसको रावण को जो वो जब मेघनाथ भरा था बहुत दुख हुआ और इतना दुख हुआ तो मूर्छित हो गया दुख के कारण इतना ज्यादा और गिरा रहा था अपने मन में कहा लक्ष्मण मिले तब इसको मारे ऐसे करके वो अपने मन में कर रहा था तो देखा लक्ष्मण आ गए सामने तो उसको भी अपना क्रोध आ गया और अपना जो प्राण हुआ था उसे पीड़ा को हृदय में कोई स्वर्ण आई हाँ। और उसने जोश में आकर के क्रुद्ध होकर के लक्ष्मण से युद्ध करना प्रारंभ किया तो अत कई छाण बाण प्रचंडा तो ऐसे कहकर के रावण ने प्रचंड बाण बाण खूब खींच खींच करके धनुष के ऊपर और समय बाण छोड़े शक्तिशाली बाण छोड़े रावण जो लक्ष्मण जी के लगे ऐसे सोच करके लक्ष्मण की सकल सतकंडा लेकिन जब उन बाणों को आते देखा तो लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष चढ़ाए हुए थे चक्कर मांगे हुए थे तो उन्होंने भी अपने बाण छोड़े तो आते हुए ही बीच में ही आते हुए बाणों को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया अब देखो ऐसा युद्ध है बाणों का युद्ध चौदह सौ पाँच चलता है दस सौ चलता है तो एक बार जो है दूसरे बार को काट देता है अब जिसका शक्तिशाली बार हो दूसरे बार को काट दे अब ये समझ रावण के पास कितने शक्तिशाली है लक्ष्मण को उससे भी ज्यादा वो रावण के पास लक्ष्मण के पास आकर नहीं पाते रास्ते में उनको जो वो लक्ष्मण के पास काट देते हैं ऐसे ही चलता है और कोटे ने आयुष रावण मारे अब आयुष के माने पानी छोड़े उसने देखा कि बाढ़ को तो काट देते हैं ये तो और जैसे भाला पक्षी इत्यादि वो सब फेंक फेंक के मारने वाले जो होते हैं वो फेंके उनको काटना तो आसान नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया तिल प्रमाण कर काटने वाले उनको भी काट काट के तिल के बराबर कर दिया वो भी कट गए लक्ष्मण को आकर के वो भी नहीं लगे रावण का इस प्रकार का प्रहार लक्ष्मण के ऊपर काम नहीं करता इस शरीर को इस बात को सूचित किया कि वैराग्य भी कम शक्तिशाली नहीं है ये वैराग्य बड़ा शक्तिशाली और मोह का विरोधी एक प्रकार से ऐसा लगता है कि वैराग्य ही लेकिन मोह को अविद्या रूप में देखें अज्ञान के रूप में देखें तब ये लगता है कि उसका विरोधी तो ज्ञान वैराग्य नहीं अब अगर उसको मोह करके देखें आसक्ति अटैचमेंट करके देखें क्योंकि उसका विरोधी जो है लक्ष्मण जी है इसलिए जो वो उसका प्रहार लक्ष्मण जी पर होता है तो लक्ष्मण को सबको काट करा देते नष्ट कर देते ये वैराग और मोह का ही होता लेकिन कुल निज बाण तीन प्राणा तो जब बाण रावण को जितने अक्षर तक फेंकने से फेंक दिए जैसे बाण उसने चलाने से रावण ने चला दिए और लक्ष्मण ने सब काट दिए और देखा कि रावण को ढीला पड़ा तो लक्ष्मण जी ने क्या किया अब उन्होंने बाण अतिरिक्त बाण मारे अब ऐसे बाण नहीं जो रक्षा करने के लिए हो हाँ? एक तो डिफेंसिव युद्ध होता है दूसरा और हाँ? अभी तक डिफेंसिव तो चल रहा है हाँ? और डिफेंसिव इसलिए जिससे कि शत्रु अपनी शक्ति को अजमा दे और शक्ति उसकी ठंडी हो जाए तब ऑफेंसिव युद्ध ये युद्ध का इतिहास अब लक्ष्मण जी ने क्या किया के पुल निज बानन तीन प्रहारा लक्ष्मण ने फिर अपने छोड़े और उसे रावण के ऊपर प्रहार किया तो चंदन अंज सारथी मारा पहले तो उसका रथ था अंज टूट फूट गया था अब देखो एक मूर्त था जिसके ऊपर चढ़ करके रावण आया था एक मूर्त था जिसको भगवान राम का वर्णन कर रहे हैं अब रथ का इतिहास आ गया था अब ये रावण का भौतिक रस्त कितने दिन चलने वाला था और लक्ष्मण जी ने जहाँ बाण मारे टूट फूट कर दर्शन किया लेकिन ये जो धर्म का रथ है ऐसे टूटने फूटने वाला है अगर उसके सबके अंग प्रत्यंग सबके मजबूत है तो क्या इतनी जल्दी नष्ट होने वाला है इसलिए कहते हैं पुनः निर्वाण तीन प्रहारा और चंदन खंज चंदन मन खंज मन उसको तोड़ फोड़ दिया था उसको रख दो और सारथी मारा तो सारथी को भी मार लगा सारथी भी मर गया न सारथी न रथ अपना रथ करावा के कर सकते हैं तो लक्ष्मण जी ने शायद ये पहले देखा होगा कि हम पैदल कर रहे और ये रथ ऊपर बैठा हुआ है रथ के ऊपर बैठ करके लड़ता है तो इसके अपने ज्यादा शक्ति समझता है बड़ा उत्साहित हो रहा है तो कहा पहले इसको इसका पहले रथ का ही विनाश करो उसके साथी का विनाश करो तो पहले उसी को आक्रमण करके उसको मार दिया अब दोनों मैदान में आ गए जैसे लक्ष्मण भी पैदल युद्ध कर रहे हैं अब रावण भी आ जमीन को उतर करके बिना रथ के अब रथ टूट गया लेकिन रावण कौन टूट गया रावण कोई मर गया रावण टूट गया तो रथ जहाँ टूटा था तो रावण टूट के जमीन पर आ गया अब युद्ध रावण का इनके मैदान में होता सत सत कर मारे सत भाला फिर लक्ष्मण जी ने बाढ़ कराए और सौ सौ बाढ़ मारे और उसके दस से रहना और दसों सिरों में लक्ष्मण जी के सौ सौ बाण अब देखो लक्ष्मण जी के सिर कमल बाण और रावण के सिर में जाकर के लगते हैं तो खुल जाते हैं बाहर भी निकल जाते हैं लेकिन उसके सिर के ऊपर कोई असर नहीं ये संगठन जन पर्वत नहीं ज्यादा तो सीधा से दिखाई दिया ऐसा लगता है कि पर्वत के शिखर के ऊपर सब जा जा करके गुफाओं के भीतर से घुस रहे हो ऐसे बाल बाढ़ सबके समान और उसका रावण का शरीर पर्वत के समान और सिर्फ सोने के समान ऊपर की चोटी और उसमें जाकर के पांच उसमें घुसते चले जाते हैं एक एक सिर में सौ सौ पाना घुस जाए लेकिन सिर उसका टूटे फूटे थे कितना शक्तिशाली इतना मजबूत सिर उसका सब सर मारा गुण माही अब बताओ सिर को छोड़ो तो रावण के छाती में फिर सौ बार मार दिए लक्ष्मण तो उदाहरण कद तो शुद्ध कछना ही जब इतना हुआ तो रावण को उसके चोट लगी उसको घायल हुआ और बेहोश हो गया और बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ा अब रावण इसके मन में समझ तो रावण मरने लगा रावण ऐसे मरने वाला नहीं है हाँ? फिर उसका क्या हुआ कि उठा प्रबल पुनः मुछा जागी थोड़ी देर में उसकी मुछा गई घुसाया तो फिर खड़ा हो गया अब जब उसको खड़ा हुआ कितनी देर में उसको फिर ज्यादा उत्साह आया और युद्ध करने के लिए ज्यादा शक्ति उसने लगाई तो छान के ब्रह्म जी ने जो सामी ली फिर तो ब्रह्मा जी ने एक शांत उसको दी थी कि शक्ति बड़ी उसको थी वो उसने फिर देखा रावण ने कि हमारे प्राण नहीं बच रहे हैं कि हमको मार करके समाप्त कर देगा तो अपनी रक्षा के लिए बचाए हुए एक जो ब्रह्म शक्ति या ब्रह्म शान थी वो अपने पास बचाए रखा था अभी तक नहीं चलाई थी तो अंतिम तो बस उसी ने मार दिया अभी ब्रह्मा के दी हुई के माने ये है क्या उसके मन माने लक्ष्मण जी को अगर वो सांप न लगे तो ब्रह्मा जी के मन कुछ नहीं उनकी मर्यादा नष्ट हो हूँ इसलिए वो साथ आकर के लक्ष्मण जी को लगती है उसको काटते काटते नहीं लक्ष्मण माने शाम को काट देने के माने है ब्रह्मा जी के मर्यादा को काटना तो उसकी भी रक्षा करनी तो भगवान है ब्रह्मा कृष्ण महेश की मर्यादा की रक्षा करेंगे देवताओं की मर्यादा की रक्षा करेंगे ऐसा सोच करके चाहे वो शाम उसको लगे उसको भले सहन करें लेकिन मर्यादा की रक्षा करेंगे अब देखो ये उच्च कोट के जो है ये है गुण है उच्च कोट का गुण अब इसे समझ लो कभी कभी इस प्रकार का होता है कि जैसे व्यक्ति जो वो एक दूसरा विरोधी व्यक्ति निंदा करे व्यक्ति दूसरे से कहे कि देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बात कह रहे थे तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बात कह रहे थे यानी तुम्हारी निंदा की बात कर रहे थे तुम्हें दोष दे रहे थे तब उस समय ये मर्यादा नहीं है कि व्यक्ति का हक रुके जाने हाँ? ऐसे बोलते तो ये मर्यादा की विपरीत बात है बात लेकिन उसको बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ अगर उन्होंने कहा तो उसका प्रतिवाद चलो ठीक है यहाँ पर ये इस प्रकार के गुण हैं जो कुछ कोटि के गुण हैं जिनका जब तक कोई जीवन में इनको सुनता नहीं और अभ्यास नहीं करता तब तक इनको जानता नहीं नहीं तो ये अगर कोई व्यक्ति की छोटी बुद्धि का व्यक्ति होगा तो वो उसका भी विरोध कर देगा गुरुजनों का भी विरोध कर देगा माता पिता का भी विरोध कर देगा जो पूजनीय आदरणीय है उनका भी विरोध कर देगा तो उनकी तो मर्यादा की रक्षा करना व्यक्ति का धर्म है इसी प्रकार से लक्ष्मण जी है भगवान राम है ये लोग जो है ये है इनका तो ये धर्म है कि प्रभाव विष्णु महेश देवता इत्यादि की मर्यादा की रक्षा करें ब्रह्मा जी ने भले ही रावण को स्थान दे दिए हम्म, लेकिन इसके माने ये नहीं है तो कह ये गलती ब्रह्मा जी के मैं क्या करूँ उन्होंने क्यों दे दी हम उसको काट काट करा कर देंगे ऐसे बात नहीं ये गलती ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बोलते भले ही ब्रह्मा जी की गलती हो या ब्रह्मा जी की कोई व्यवस्था हो जिसके कारण वो स्थान रावण को दे दिया हो उन्होंने लेकिन यहाँ तो उसकी यही है कि ब्रह्मा जी के मर्यादा की रक्षा करने के लिए उस सांस को भी लक्ष्मण जी को स्वीकार करना पड़ता है यही बात पहले भी आई है मैंने तुलसीदास जी के मन में जो जीवन के मैंने हर व्यक्ति ऑफ लाइफ है या उत्तम गुण है वो बराबर ध्यान में रहते हैं यही बात जब हनुमान जी की और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था लंका में पहले जब वो आग लगाई जलाई उसके पहले थे दोनों में युद्ध हुआ तब मेघनाथ वही ब्रह्मास्त्र मार दिया हनुमान जी को तो वहाँ साक्षात कैसे आया तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी ने उसको ब्रह्मास्त्र को उसका कंट्रोल नहीं किया उसको स्वीकार कर दिया उसमें बन गए उसके आघात को सहन कर लिया उसका विरोध नहीं किया उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए वाक्य किया था इसी प्रकार से उसी बात को दोहराते नहीं है यहाँ लेकिन घटना उसी प्रकार की यहाँ भी घटती है आपकी बात लक्ष्मण जी का रावण का युद्ध है और रावण जो है वो ब्रह्मा जी हुई प्रचंड शक्ति शांत वो रावण मारता है तो लक्ष्मण जी उसका विरोध नहीं करते उसे स्वीकार कर लेते हैं तो कहते हैं कि सो तो, ब्रह्म तत्व प्रचंड शक्ति अनंत और मैंने वो जब रावण ने वो चलाई तो आकर के चली और आई लक्ष्मण जी के पूर्व में आकर के छाती में आकर के वो शक्ति लगी और चुन गई घुस गई दादी सही पर बिल्कुल सही लगी मन ये रसंगना को चलाई और लक्ष्मण जी जैसे जैसे इधर उधर काट कूद दिया और कुंदन लगी उसको तो बात में सही के मैंने एक्चुअली लगी हम्म। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से लग गई तो परे उठी कल तो लक्ष्मण जी जो वो ये के मैंने यहाँ लक्ष्मण जी के परे उठी तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े मन स्वराज रावण के हाथ अब देखो तो वैराग्य और ये अविद्या या मोह इससे जब दोनों का युद्ध हुआ तो वैराग्य बहुत लड़ता है ये बात नहीं कमजोर हो लड़ता बहुत है लेकिन उसको मार नहीं सकता इसलिए वैराग्य घर से काम नहीं करता लेकिन वैराग्य के बिना भी काम नहीं करता लेकिन सरयो वीर विकल उठाव अभी देखो दिखाते हैं रावण को कि अपराजित करना है लक्षित करना है तो जैसे रावण आकर के आता है और लक्ष्मण जी को उठाने लगता है अतुल तो बल महिमा रही लेकिन अब लक्ष्मण जी की बल्कि महिमा तो बहुत बड़ी वो रावण को खाए के जो सकता है तो पहले जैसे मेघनाथ ने भी लक्ष्मण जी को छठी मारी थी और फिर मेरे साथ आया लक्ष्मण जी को उठाने के लिए तो भाई नहीं उठा तो हनुमान जी आए और उन्होंने वो जब उठा तो नहीं उठा पाया तो नेता चला गया वहां उसके साथियों ने भी जोर लगाया तो वो भी सब वापस चले गए तब तक हनुमान ना पहुंचे फिर लक्ष्मण जी को उठा करके जहाँ भगवान राम थे वहां उनको पहुंचाया मेघनाथ लक्ष्मण जी नहीं उठे हनुमान जी तो उठे वही बात यहाँ फिर होती है यहाँ पर देखते हैं कि अब जैसे ही सात लगे गिरे और हनुमान महाप्रभु रावण आकर के उनको उठा ही रहा था तब तक हनुमान पहले ही आ गए रावण ने अपनी शक्ति अजमा करके वापस जा नहीं पाया था उठाने की कोशिश कर रहा था उठा नहीं पाया तब तक आ गए हनुमान ब्रह्मांड भ्रमण विराज जाके एक से जिम रज करे कहते वो रावण ये नहीं समझता कि लक्ष्मण जी को जिनको उठाने की कोशिश कर रहा है वो लक्ष्मण जी साधारण करके नहीं ब्रह्मांड भवन विराज जाके सिर्फ ये सात समस्त ब्रह्मांड जिनके सिर के ऊपर विराजमान है मैंने शेषनाथ के अवतार है शेषनाथ के फन के ऊपर ब्रह्मांड है तो सारा ब्रह्मांड शेषनाथ के फन के ऊपर एक रजकण के समान है सिर केवल रजकणी जैसे धूल की एक जैसे मन हम जा रहे हो रास्ते में धूल उड़े सिर के ऊपर गिर पड़े हाँ, धूल का कम पर इसके माने बड़े क्या हम करने लगेंगे और बर्तन टेढ़ी होने लगेगी और धूल करके के माने हम परेशान होने लगेंगे तो थोड़ी फिर हो सका पता नहीं चलेगा ऐसे शेषनाथ जी के सबके ऊपर प्रमाण रखा हुआ उनके लिए कोई वजह नहीं होता माने शक्ति दिखाने के लिए कि देखो लक्ष्मण जी अपने शक्तिशाली और किसी ब्रह्मांड के ऊपर रहने वाला रावण और रावण का बाप पराक्रम में किसने क्या किया कि कैलाश पर्वत उठा लिया तब कैलाश पर्वत ब्रह्मांड के भीतर ही जो है उन्हें उठा लिया तो क्या रावण को ये पता था कि मैंने पर्वत उठा दिया तो लक्ष्मण को कैन को उठा लेंगे जब उठाया तो पता लगा करे ये तो वो शेषनाथ के अवतार है जिनके ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड रखा है पर्वत उठा सकते हैं तो ब्रह्मांड को उठा सकते हैं और ब्रह्मांड जिसके सिर के ऊपर रखा उनको थोड़ा उठा सकते हैं सबसे रावण मूल रावण इसलिए कहते हैं कि वो मूल रावण उनको उठाना चाहता है तो ये मूलता की बात सही चाहे तो रावण मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी कहते हैं कि वो ये नहीं जानता रावण की त्रिभुवन तो धनी मन सुंदर लोगों के स्वामी है इस बात को नहीं जानता अब यहाँ एक तो पुराण की बात भी कह दी और वेदांत की बात भी कह दी दोनों बातें आ गई पुराण के अनुसार शेषनाथ में विराजमान उनके ब्रह्मांड उनके धन के ऊपर रखा हुआ ये तो प्राण की बात और वो शेषनाथ का अवतार लक्ष्मण भी वेदांत की बात क्या है कि लक्ष्मण एक है परम परमात्मा और दूसरी तरफ है नाम रूपात्मक तमाम जगत ब्रह्मांड और इन दोनों के बीच में है निवेशन निवेशन जितना भी जगत है तो सबको निगेट करो तो क्या बचा ये जगत सब नाम रूप मात्र है प्रतीक मात्र है माया में मात्र है इसलिए इसकी उपेक्षा कर और उपेक्षा किया क्या बचा शून्य बचा हाँ ये शून्य ही जो है ये शेष है ये है लक्ष्मण हाँ, लेकिन शून्य जो है वो अंतिम वस्तु नहीं है शून्य का भी व्यापक विद्यमान चेतन तत्व जिसके प्रकाश में शून्य को भी जाना जाता है तो फिर शून्य का भी स्वामी परमात्मा ब्रह्म है ब्रह्म चेतन स्वरूप सत्ता फिर शून्यता और फिर शून्यता से समस्त जगत इस प्रकार से यह है तीन रूप कहीं कहीं इसको दूसरे प्रकार से भी कहते हैं तो ब्रह्म ब्रह्म की अव्यक्ष शक्ति और फिर विगत की शक्ति ये समस्त जगत से वो उसी अव्यक्ष शक्ति का अध्यक्ष रूप है और ये समस्त जगत जब नष्ट होता है तो अव्यक्ष रूप धारण कर लेता है अब ये ब्रह्म तो वो सत्य है और उसकी शक्ति जो वो उसमें जो विद्यमान है उस ब्रह्म के लक्षणों से निरक्षण विधि लक्षण वाली शक्ति है और विपरीत लक्षण वाली शक्ति जब जगत की रचना करती है तो वो शक्ति सब जितनी भी होती है वो अनिश्चित है तीनों काल में रहने वाली नहीं है लेकिन ब्रह्म तीनों काल में रहने वाला है तो इस प्रकार से उनको समझने के लिए तीन वस्तुओं के संग में ब्रह्म हम्म, अध्यक्ष शक्ति और समस्त जगत नाम रूपात्मक जगत ये भी तो ये समस्त जगत किस पर टिका है तो ये समस्त जगत टिका हुआ है अध्यक्ष के ऊपर वैसे तो ये लगता है इसका ब्रह्म के ऊपर टिका ब्रह्म सबका कारण हम्म, लेकिन सावधानिक रूप से देखें ये समस्त नाम रूपात का जगत अपनी अव्यक्त सत्ता के ऊपर टिका हुआ है ये सभी उपनिषदों में कठोपनिषद इत्यादि अज्ञान में सब उपनिषदों में ये बात आती है बात सब उपनिषद में भी और उपनिषदों में भी एक जगह इस बात को आती है इसके पहले तो व्यक्ति ये समझ गए कि ये जगत का कारण क्या है ये ब्रह्म है परमात्मा लेकिन बाद में बात में समझ में आए कि परमात्मा इसका अकारण कारण है इसका कारण है फिर क्या कारण है इसी ब्रह्म की अव्यक्त शक्ति है वो इसके जगत का कारण है देखो थोड़ी थोड़ी बातें करके उससे निकलती आती निकलती आती है इस प्रकार की नहीं जानते हैं इसलिए लक्ष्मण जो तत्व है इसको भी वेदांत अनुसार क्या है इसको भी समझना पड़ता है तो कहते हैं देश पवन सतथाए बोलत वचन कठोर अब यहाँ पर ज्यादा वेदांति बताते रहे की इतनी बात में बहुत बातें इस प्रकार है लक्ष्मण जी के तत्व को समझना जैसे ही रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी है ये वेदांत की बात रावण जी नहीं जानता की लक्ष्मण जी तो त्रिभुवन धनी है जब व्यक्ति में वैराग्य आता है तो वैराग्य का एक रूप तो ये है कि सब जितने भी विषय है ये सब कुछ है मन में अनाशक्ति हो गई तो वैराग्य हो गया अब फिर वैराग्य जब तीव्र वैराग्य होता है तब व्यक्ति पुरुष को ये दिखाई देने लगता है कि नाम अनुपात का जगत मिथ्या है वैराग्य और बढ़ा तो ये जगत कहीं है ही नहीं और मुख्य प्रहार प्रखोर और रावण ने हनुमान जी की ललकार को सुनकर के उसको गुस्सा आ गया और उसने पहले हनुमान को ऊपर गुस्सा जमा दिया अब हनुमान का और अवतेज होने लगता है लक्ष्मण जी जब गुस्सा आई पड़े तो हुए हैं अब इनका आप आवत तो आने होते ही कपिले आने होते ही उनसे ही बन रावण रावण ने हनुमान जी के मुख्य प्रहार पर हो बड़ी गुस्सा क्या हुआ हनुमान जी जो वो हो कैसे सब भूसा को टाइम किया और फिर कैसे रावण से हुआ अब आगे कुछ